दिवस की चर्चा में जीवन के प्रति विस्मय विमुग्ध भाव चाहिए इस संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही थी दूसरे दिन की चर्चा में जीवन के प्रति रस विभोर भाव चाहिए इस संबंध में थोड़ी सी बातें कही और आज तीसरी चर्चा में जीवन के प्रति प्रेम निमग्न मन चाहिए इस संबंध में कुछ आपसे कहना है प्रेम तीसरा सूत्र है ज्ञान से जहां नहीं पहुंचता मनुष्य वहां प्रेम से पहुंच जाता है लेकिन प्रेम का हमें कोई पता ही नहीं प्रेम के नाम से जो कुछ हम जानते हैं वो सब झूठे सिक्के झूठे सिक्के इतने ज्यादा प्रचलित हैं कि असली सिक्कों को पहचानना ही कठिन हो गया प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है जितना गलत समझा जाता है उतना शायद मनुष्य की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं प्रेम के संबंध में जो गलत समझी है उसका ही विराट रूप इस जगत के सारे उपद्रव हिंसा कलह द्वंद और संघर्ष है प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है जैसा हम जीवन जीते हैं प्रत्येक को यह अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना है जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता है समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है एक ही प्रार्थना है एक ही अभीपसा है और वो अभीपसा प्रेम की है और वही अभीपसा असफल हो जाती हो तो जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे अर्थहीन मीनिंगलेस फ्रस्ट्रेशन मालूम पड़े विफलता मालूम पड़े चिंता मालूम पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है जीवन की केंद्रीय प्यास ही सफल नहीं हो पाती है न तो हम प्रेम दे पाते हैं और न उपलब्ध कर पाते हैं और प्रेम जब असफल रह जाता है प्रेम का बीज जब अंकुरित नहीं हो पाता तो सारा जीवन व्यर्थ व्यर्थ असार असार मालूम होने लगता है जीवन की असारता प्रेम की विफलता का फल है जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार बन जाता है प्रेम विफल होता है तो जीवन प्रयोजनहीन मालूम होने लगता है प्रेम सफल होता है जीवन एक सार्थक कृतार्थता और धन्यता में परिणत हो जाता है लेकिन ये प्रेम है क्या ये प्रेम की अभीपसा क्या है ये प्रेम की पागल प्यास क्या है कौन सी बात है जो प्रेम के नाम से हम चाहते हैं और नहीं उपलब्ध कर पाते हैं जीवन भर प्रयास करते हैं सारे प्रयास प्रेम के आसपास ही होते हैं युद्ध प्रेम के आसपास लड़े जाते धन प्रेम के आसपास इकट्ठा किया जाता यश की सीढ़ियां प्रेम के लिए पार की जाती संन्यास प्रेम के लिए लिया जाता है घर द्वार प्रेम के लिए बसाए जाते और प्रेम के लिए छोड़े जाते हैं जीवन का समस्त क्रम प्रेम की गंगोत्री से निकलता है जो लोग महत्वाकांक्षा की यात्रा करते हैं पदों की यात्रा करते हैं यश की कामना करते हैं क्या आपको पता है वे सारे लोग यश के माध्यम से जो प्रेम से नहीं मिला है उसे पा लेने की कोशिश करते हैं जो लोग धन की तिजोड़ियां भरते चले जाते हैं अंबार लगाते जाते हैं क्या आपको पता है जो प्रेम से नहीं मिला वो पैसे के संग्रह से पूरा करना चाहते हैं जो लोग बड़े युद्ध करते हैं और बड़े राज्य जीतते हैं क्या आपको पता है जिसे वे प्रेम में नहीं जीत सके उसे भूमि जीती कर पूरा करना चाहते हैं शायद आपको ख्याल में न हो लेकिन मनुष्य जीवन का सारा उपक्रम सारा श्रम सारी दौड़ सारा संघर्ष अंतिम रूप से प्रेम पर ही केंद्रित है लेकिन ये प्रेम की अभीपसा क्या है पहले इसे हम समझें तो और बात समझी जा सके जैसा मैंने कल कहा मनुष्य का जन्म होता है मां से टूट जाता है संबंध शरीर का अलग एक इकाई अपनी यात्रा शुरू कर देती है अकेली एक इकाई जीवन के इस विराट जगत में अकेली यात्रा शुरू कर देती एक छोटी सी बूंद समुद्र से छलांग लगा गई है और अनंत आकाश में छूट गई है एक छोटे से रेत का कण तट से उड़ गया है और हवाओं में भटक गया है मां से व्यक्ति अलग होता है एक बूंद टूट गई सागर से और अनंत आकाश में भटक गई है वो बूंद वापस सागर से जुड़ना चाहती है वो जो व्यक्ति है वो फिर समष्टि के साथ एक होना चाहता है वो जो अलग हो जाना है वो जो पार्थक्य है वो फिर से समाप्त होना चाहता है प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है प्रेम का एक ही प्यास है एक हो जाए सबसे जो है समस्त से संयुक्त हो जाए जो पार्थक्य है जो व्यक्ति का अलग होना है वही पीड़ा है व्यक्ति की जो व्यक्ति का सबसे दूर खड़े हो जाना है वही दुख है वही चिंता है वापस बूंद सागर के साथ एक होना चाहती है प्रेम की आकांक्षा समस्त जीवन के साथ एक हो जाने की प्यास और प्रार्थना है प्रेम का मौलिक भाव एकता खोजना है लेकिन जिन जिन दिशाओं में हम ये एकता खोजते हैं वहीं वहीं असफल हो जाते हैं जहां जहां ये एकता खोजी जाती है वहीं वहीं असफल हो जाते हैं शायद जिन मार्गों से हम एकता खोजते हैं वे मार्ग ही अलग करने वाले मार्ग हैं एक करने वाले मार्ग नहीं इसलिए प्रेम के नाम से झूठे सिक्के प्रचलित हो गए हैं मनुष्य जो एकता खोजता है वो शरीर के तल पर खोजता है लेकिन शायद आपको पता नहीं पदार्थ के तल पर जगत में कोई भी एकता संभव नहीं है शरीर के तल पर कोई भी एकता संभव नहीं है पदार्थ अनिवार्य रूप से एटॉमिक है आणविक है और एक एक अणु अलग अलग है दो अणु पांच तो हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते निकट हो सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते दो अणुओं के बीच अनिवार्य रूप से जगह शेष रह जाएगी फासला डिस्टेंस शेष रह जाएगा पदार्थ की सत्ता एटॉमिक है आणविक है प्रत्येक अणु दूसरे अणु से अलग है हम लाख उपाय करें तो भी दो अणु एक नहीं हो सकते उनके बीच में फासला उनके बीच में दूरी शेष रह जाएगी ये हाथ हम कितने ही निकट ले आए ये हाथ हमें जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं लेकिन ये हाथ फिर भी दूर है इनके जोड़ में भी फासला है इन दोनों के हाथ में बीच में दूरी है वो दूरी समाप्त नहीं हो सकती दो शरीर कितने ही निकट आ जाएं उनके बीच दूरी समाप्त नहीं हो सकती प्रेम में हम किसी को हृदय से लगा लेते हैं दो देह पास आ जाती हैं लेकिन दूरी बरकरार रहती दूरी मौजूद रह जाती इसलिए हृदय से लगा के भी किसी को पता चलता है कि हम अलग अलग हैं पास नहीं हो पाए एक नहीं हो पाए शरीर को निकट लेने पर भी वो जो एक होने की कामना थी अतृप्त रह जाती है इसलिए शरीर के तल पर किए गए सारे प्रेम असफल हो जाते हो तो आश्चर्य नहीं प्रेमी पाता है कि असफल हो गए जिसके साथ एक होना चाहा था वो पास तो आ गया लेकिन एक नहीं हो पाए लेकिन उसे ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये शरीर की सीमा है कि शरीर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता पदार्थ के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता मैटर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता ये स्वभाव है पदार्थ का कि वहां पार्थक्य होगा फासला होगा लेकिन प्रेमी को यह नहीं दिखाई पड़ता है उसे तो ये दिखाई पड़ता है कि शायद जिससे मैंने प्रेम किया है वो मुझे ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा है इसलिए दूरी रह गई है उसे शरीर के तल पर एकता खोजना ना समझी है ये नहीं दिखाई पड़ता लेकिन दूसरा प्रेमी दूसरी तरफ जो खड़ा है जिससे उसने प्रेम की आकांक्षा की थी वो शायद प्रेम नहीं कर रहा है इसलिए एकता उपलब्ध नहीं हो पा रही उसका क्रोध प्रेमी पर पैदा होता है लेकिन दिशा ही गलत थी प्रेम की यह ख्याल नहीं आता इसलिए दुनिया भर में प्रेमी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं पति पत्नी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं सारे जगत में प्रेमी एक दूसरे के ऊपर क्रोध से भरा हुआ है क्योंकि वो आकांक्षा जो एक होने की थी वो विफल हो गई है असफल हो गया है और सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया प्रत्येक यही सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया हूं इसलिए दूसरे पर क्रोध कर रहा है लेकिन मार्ग ही गलत था प्रेम शरीर के तल पर नहीं खोजा जा सकता था इसका स्मरण नहीं आता है इस एकता की दौड़ में जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम पजेस करना चाहते हैं उसे हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मालकियत कम रह जाए पजेशन कम रह जाए तो एकता कम रह जाए इसलिए प्रेमी एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं मुट्ठी पूरी कस लेना चाहते हैं दीवार पूरी बना लेना चाहते हैं कि प्रेमी कहीं दूर ना हो जाए कहीं हट ना जाए कहीं दूसरे मार्ग पर ना चला जाए किसी और के प्रेम में संलग्न ना हो जाए तो प्रेमी एक दूसरे को पजिश करना चाहते मालकियत करना चाहते और उन्हें पता नहीं कि प्रेम कभी मालिक नहीं होता जितनी मालकियत की कोशिश होती है उतना फासला बड़ा होता चला जाता उतनी दूरी बढ़ती चली जाती क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है मालकियत हिंसा है मालकियत शत्रुता है मालकियत किसी की गर्दन को मुट्ठी में बांध लेना है मालकियत जंजीर है लेकिन प्रेम भयभीत होता है कि कहीं मेरा फासला बड़ा ना हो जाए इसलिए निकट और निकट और सब तरफ से सुरक्षित कर लू ताकि प्रेम का फासला नष्ट हो जाए दूरी नष्ट हो जाए जितनी ये चेष्टा चलती है दूरी नष्ट करने की दूरी उतनी बड़ी होती चली जाती है विफलता हाथ लगती है दुख हाथ लगता है चिंता हाथ लगती है फिर आदमी सोचता है कि ये प्रेम शायद इस व्यक्ति से पूरा नहीं हो पाया इसलिए दूसरे व्यक्ति को खोजूं शायद ये व्यक्ति ही गलत है तब आंखें दूसरे प्रेमियों की खोज में भटक जाती है लेकिन बुनियादी गलती वहीं की वहीं बनी रहती है शरीर के तल पर एकता असंभव है ये ख्याल नहीं आता ये शरीर और वो शरीर का सवाल नहीं है सभी शरीर के तल पर एकता असंभव है आज तक मनुष्य जाति शरीर के तल पर एकता और प्रेम को खोजती रही है इसलिए जगत में प्रेम जैसी घटना घटित नहीं हो पाई जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पोजेशन और मालकियत की चेष्टा चलती है स्वभावता उसके आसपास ईर्षा का जन्म होगा जहां मालकियत है वहां ईर्षा है जहां पोजेशन है वहां जिलसी है इसलिए प्रेम के फूल के आसपास ईर्षा के बहुत कांटे बहुत बागुड़ खड़ी हो जाती है और ईर्षा की आंख के बीच प्रेम कुमला जाता हो तो आश्चर्य नहीं वो जन्म भी नहीं पाता कि जलना शुरू हो जाता है जन्म भी नहीं हो पाता कि चिता पे सवारी शुरू हो जाती है जैसे किसी बच्चे को पैदा होते ही हमने चिता पर रख दिया हो ऐसे ही प्रेम ईर्षा की चिता पर रोज चढ़ जाता है ईर्षा इसलिए पैदा होती है जहां मालकीय थे जहां मैंने कहा मैं मेरा वहां डर है कि कहीं कोई और मालिक ना हो जाए ईर्षा शुरू हो गई भय शुरू हो गया घबराहट शुरू हो गई चिंता शुरू हो गई पहरेदारी शुरू हो गई और ये सारे के सारे मिलके प्रेम की हत्या कर देते प्रेम को किसी पहरे की कोई जरूरत नहीं है प्रेम का ईर्षा से कोई नाता नहीं है जहां ईर्षा है वहां प्रेम संभव नहीं है जहां प्रेम है वहां ईर्षा संभव नहीं है लेकिन प्रेम है ही नहीं प्रेम के किनारे जाके आदमी की नौका टूट जाती है जो नौका बननी चाहिए थी जिस पर हम यात्रा करते वो टूट जाती है क्योंकि हमने प्रेम को बिल्कुल ही गलत प्रारंभ से शुरू किया है पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूं पदार्थ के तल पर कोई प्रेम संभव नहीं वो इम्पॉसिबिलिटी है वो मेरी और आपकी असफलता नहीं है वो मनुष्य जाति जीवन के लिए असंभावना है पदार्थ के तल पर कोई एकता उपलब्ध नहीं हो सकती जब यह एकता उपलब्ध नहीं होती सब तरफ चिंता और विफलता दिखाई पड़ती है तो कुछ शिक्षक ये कहने लगते हैं कि ये प्रेम ही गलत है ये प्रेम की बात ही गलत है प्रेम का विचार ही गलत है छोड़ो प्रेम के भाव को उदासीन हो जाओ जीवन को उदासी से भर लो जीवन से प्रेम की सब जड़ें काट दो ये दूसरी गलती है प्रेम गलत दिशा में गया था इसलिए असफल हुआ है प्रेम असफल नहीं हुआ गलत दिशा असफल हुई है लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं कि प्रेम असफल हो गया तो अप्रेम की शिक्षाएं हैं अपने प्रेम को सिकोड़ लो बंद कर लो अपने से बाहर मत जाने दो अपने से बाहर तो बंधन बनेगा मोह बनेगा आसक्ति बनेगा अपने भीतर बंद कर लो प्रेम को बाहर मत बहने दो उदासीन जीवन के प्रति हो जाओ प्रेम की खोज ही बंद कर दो एक ये दिशा पैदा होती है ये विफलता का ही परिणाम है ये रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन का प्रेम की तरफ पीठ करके जाने वाले लोग उसी गलती में हैं जिस गलती में प्रेम को शरीर के तल पर खोजने वाले लोग थे दिशा गलत थी प्रेम की खोज गलत नहीं थी लेकिन दिशा गलत है ये नहीं दिखाई पड़ा दिखाई पड़ा कि प्रेम की खोज ही गलत है तो प्रेम से उदासीन शिक्षकों का जन्म हुआ जिन्होंने प्रेम की निंदा की प्रेम को बुरा कहा प्रेम को बंधन बताया प्रेम को पाप कहा और व्यक्ति अपने में बंद हो जाए लेकिन उन्हें इस बात का पता ना रहा कि व्यक्ति जब प्रेम की संभावना छोड़ देगा तो उसके पास सिर्फ अहंकार की संभावना शेष रह जाती और कुछ भी शेष नहीं रह जाता प्रेम अकेला तत्व है जो अहंकार को तोड़ता और मिटाता है प्रेम अकेला अकेला रसायन है जिसमें अहंकार गलता है और पिघलता है और बह जाता है जो लोग प्रेम से वंचित अपने को कर लेंगे वे सिर्फ इगोइस्ट हो सकते हैं सिर्फ अहंकारी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं उनके पास अहंकार को गलाने और तोड़ने का कोई उपाय ना रहा कोई मार्ग ना रहा प्रेम स्वयं के बाहर ले जाता है प्रेम अकेला द्वार है जिससे हम अपने बाहर निकलते हैं और अनंत की यात्रा पर चरण रखते हैं प्रेम जो अन्य है जो जगत है जो जीवन है उससे जोड़ता है लेकिन जो प्रेम की यात्रा बंद कर देते हैं वे टूट के सिर्फ अपने मैं में अपने अहंकार में अपनी ईगो में कैद हो जाते हैं बंद हो जाते हैं एक तरफ विफल प्रेमी है दूसरी तरफ अहंकार से भरे हुए साधु और सन्यासी हैं अहंकार इस बात की स्वीकृति है जैसा मैंने कहा प्रेम इस बात की खोज है कि मैं सबके साथ एकता खोज लू समष्टि के साथ एक हो जाऊं अहंकार इस बात का निर्णय है कि मैंने एकता खोजनी बंद कर दी मैं मैं हूं मैं अलग ही रहूंगा मैं अपनी सत्ता से निश्चिंत हो गया हूं मैंने मान लिया कि मैं मैं हूं बूंद ने स्वीकार कर लिया कि सागर से मिलना असंभव है या मिलने की कोई जरूरत नहीं ये बूंद जो अपने में बंद हो गई ये भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकती ये सिकुड़ गई बहुत छोटी हो गई बहुत क्षुद्र हो गई अहंकार क्षुद्र कर देता सिकोड़ देता बहुत छोटा बना देता आनंद विराट के साथ संभव है क्षुद्र के साथ नहीं आनंद अनंत के साथ संभव है सीमित के साथ संभव नहीं जहां सीमा है वहां दुख है जहां सीमा नहीं है वहीं आनंद है जहां सीमा है वहां अंत है वहां मृत्यु है जहां सीमा नहीं है वहां अनंत है वहां अमृत है क्योंकि जहां सीमा नहीं वहां अंत नहीं वहां मृत्यु नहीं अहंकारी क्षुद्र के साथ जुड़ जाता है अपने को अलग मानकर ठहर जाता है रुक जाता है पिघलने से बह जाने से मिट जाने से सबके साथ एक हो जाने से अपने को रोक लेता है मैंने सुना है एक नदी समुद्र की तरफ यात्रा कर रही थी जैसे कि सभी नदियां समुद्र की तरफ यात्रा करती हैं भागी चली जा रही थी नदी समुद्र की तरफ कौन खींचे लिए जाता था मिलन की कोई आशा एक हो जाने की विराट के साथ संयुक्त हो जाने की कोई कामना किनारों को तोड़ देने की सीमाओं को तोड़ देने की तटहीन सागर के साथ एक हो जाने की कोई प्यास नदी को भगाया ले जा रही थी नदियां भाग रही हैं वो नदी भी भाग रही थी कोई प्रेम जैसा प्रत्येक मनुष्य की चेतना भाग रही है भाग रही अनंत के सागर के साथ एक होने को वैसी वो नदी भी भाग रही थी लेकिन बीच में आ गया एक मरुस्थल बड़ा था मरुस्थल नदी उसमें खोने लगी नदी दौड़ने लगी तेजी से संघर्ष करने लगी तोड़ देगी उसने पहाड़ तोड़े थे उसने गांठ तोड़े थे उसने मार्ग बनाए थे वह मरुस्थल में भी मार्ग बना लेगी लेकिन महीनों बीत गए सालों बीतने लगे मार्ग नहीं बनता है नदी मरुस्थल में खोती चली जाती है रेत उसे पीती चली जाती है राह नहीं बनती और तब नदी घबराई और रोने लगी उस मरुस्थल की रेत ने कहा अगर हमारी सुनो तो एक बात स्मरण रखो मरुस्थल को केवल वे ही नदियां पार कर सकती हैं जो हवाओं के साथ एक हो जाती हैं जो अपने को खो देती हैं और हवाओं के साथ एक हो जाती हैं जो अपने को मिठा देती हैं जैसे ही वे अपने को मिटाती हैं हवाएं उन्हें अपने कंधों पर उठा लेती हैं और फिर मरुस्थल पार हो जाता है मरुस्थल से लड़के कोई कभी पार नहीं होता मरुस्थल के ऊपर उठ के पार होता है बहुत नदियां आई हैं इस मरुस्थल को पार करने वे खो गई केवल वे ही नदियां उठ पाई हैं जिन्होंने अपने को खो दिया भाप हो गई हवाओं के कंधों पर उठ गई मरुस्थल को पार कर गई लेकिन वो नदी कहने लगी मैं मिट जाऊंगी मैं मिटना नहीं चाहती हूं मैं बनी रहना चाहती हूं तो सागर की रेत ने कहा अगर बनी रहना चाहोगी तो मिट जाओगी और अगर मिट जाओगी तो बनी भी रह सकती हो पता नहीं उस नदी ने उस सागर की रेत की बात सुनी या नहीं जरूर सुन ली होगी क्योंकि नदियां आदमियों जैसी ना समझ नहीं होती है सवार हो गई होगी हवाओं के ऊपर पार कर गई होगी बादल बन गई होगी उठ गई होगी ऊपर नई दिशा में यात्रा कर ली होगी लेकिन आदमी का अहंकार लड़ लड़ के टूट जाता है लेकिन मिटने को राजी नहीं होता लड़ता है टूटता है लेकिन मिटने को राजी नहीं होता जितना लड़ता है उतना ही टूटता है उतना ही नष्ट होता है क्योंकि किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं की जड़ों से किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं के ही विराट रूप से किससे हम लड़ रहे हैं स्वयं की ही सत्ता से टूटेंगे मिटेंगे नष्ट होंगे दुखी होंगे पीड़ित होंगे प्रेम से जो बचता है स्मरण रहे प्रेम मैंने कहा एक हो जाने की आकांक्षा है और एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो जो मिटने को राजी नहीं होता वो उसके लिए दूसरी दिशा खुल जाती है वो अहंकार की दिशा है तब वो अपने को बनाने को मजबूत करने को पुष्ट करने को ज्यादा सख्त अपने आसपास दीवाल उठाने को किला बनाने को उत्सुक हो जाता है अपने मैं की मजबूत करने की यात्रा में संलग्न हो जाता है प्रेमी असफल हो गए क्योंकि शरीर के तल पर एकता खोजी सन्यासी असफल हो जाते हैं क्योंकि अहंकार के तल पर अलग होने का निर्णय करते हैं क्या कोई तीसरा मार्ग नहीं है उसी तीसरे मार्ग की आपसे बात करना चाहता हूं अहंकार तो कोई मार्ग नहीं है अहंकार तो दुख की दिशा है अहंकार तो भ्रांत है मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है भीतर सिवाय शब्द के जब सब शब्द छूट जाते हैं और आदमी मौन होता है तो पाता है वहां कोई मैं नहीं है कभी मौन होके देखें कभी चुप होकर देखें कभी शांत होकर देखेंगे वहां फिर कोई मैं नहीं पाया जाता वहां कोई मैं नहीं है वहां एग्जिस्टेंस है वहां सत्ता है अस्तित्व है लेकिन मैं नहीं मैं मनुष्य की ईजाद है मैं मनुष्य का आविष्कार है बिल्कुल झूठा उतना ही झूठा जैसे हमारे नाम झूठे हैं क्यों कोई आदमी किसी नाम को लेकर पैदा नहीं होता है लेकिन जन्म के बाद हम नाम दे देते हैं ताकि दूसरे लोग उसे पुकार सकें बुला सकें नाम की उपयोगिता है यूटिलिटी है लेकिन नाम की कोई सत्ता नहीं कोई अस्तित्व नहीं दूसरे लोग नाम लेके बुलाते हैं मैं खुद क्या कह के अपने को बुलाऊं तो मैं अपने को मैं कह के बुलाता हूं मैं खुद के लिए खुद को पुकारने के लिए दिया गया नाम है और नाम दूसरों को पुकारने के लिए दिए गए नाम है नाम भी उतने ही असत्य हैं जितना मैं का भाव असत्य है लेकिन इसी मैं को हम इसी मैं को मजबूत करते चले जाते हैं मैं को मोक्ष चाहिए मैं को परमात्मा चाहिए मैं को पद चाहिए मैं को मुक्ति चाहिए मैं को आनंद चाहिए मैं को सुख चाहिए लेकिन मैं को कुछ भी नहीं मिल सकता है क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ है मैं असत्य है जो असत्य उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है मैं भी असफल हो जाता है और प्रेम भी असफल हो जाता है और दो ही दिशाएं हैं एक प्रेम की दिशा है और एक अहंकार की दिशा है मनुष्य के जगत में दो मार्गों के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग नहीं है एक मैं का एक प्रेम का प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं मैं असफल होता है क्योंकि असत्य है तीसरा क्या हो सकता है तीसरा यह हो सकता है प्रेम की सम्यक दिशा खोजें और मैं की असम्यक दिशा से बचें